विद्युतगण उपस्थित सज्जनों मातृशक्ति कल आपको जो उपदेश में सुनाया था उसमें से कुछ याद स्मरण है किसी को क्या क्या स्मरण जैसे ईश्वर के साथ जो व्यक्ति अपना संबंध जोड़ता है और उसे अपना सब कुछ का स्वामी मानता है वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है और जो संसार के वस्तुओं को अपना स्वामी मानता है वो व्यक्ति विफल होता है संसार की वस्तुओं को नौ वस्तुएं यदि सिद्धांत रूप में सही मान रहा है लेकिन यही एक वस्तु यदि गलत मान रहा है ईश्वर इस संसार का शरीर आदि का विद्या आदि का स्वामी नहीं है तो उसके नौ सिद्धांत जो सही मान रहा है वो उसके कारण से उसकी विफलता रुक नहीं जाएगी हाँ जी और कौन सुनाएगा जो वस्तु व्यक्ति को प्राप्त होती है यदि उसके बदले वह कोई मूल्य नहीं देता है अथवा कम मूल्य देता है तो उसकी कीमत उसको समझ में नहीं आती है हम्म। और बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो वस्तु जितनी महत्व की होती है उसका उतना महत्व समझता है आपसे कोई पूछे या आप स्वयं निर्णय करना चाहें कि ईश्वर को स्वामी मानना अथवा स्वयं को संसार की वस्तुओं का स्वामी मानना तो आप क्या उत्तर देंगे रणबीर जी हृदय से क्या उत्तर मिलेगा ये बताओ वैसे नहीं हृदय से अपने को स्वामी मानना इस प्रकार से ये मिलता है व्यवहारिक रूप में स्वामी हाँ हाँ वही बात तो आप आज तक क्या इस सिद्धांत को मंतव्य को हृदय से मन से आत्मा से स्वीकार कर पाए कि ईश्वर को स्वामी मानना ठीक है या नहीं कर पाए आप बोलेंगे जिस काल में चिंतन इस विषय पर करता हूँ तो उस समय लगता है हाँ जी आप बोलो ट्राई नहीं कर पाता है हाँ जी चिंतन करने पर लगता है स्वामी जी फिर कहा जाता है फिर वो हट जाता है स्वामी जी वो स्थिति हट जाता है हाँ जी व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता है हाँ जी बोलो कभी कभी ऐसा लगता है फिर हट जाता है लगता है स्वामी जी कभी कभी ध्यान नहीं देने पर अपना पढ़ा जाता है हाँ जी व्यवहार में तीस से चालीस प्रतिशत आ जाता है हाँ जी आप बोलो चिंतन करते समय तो पूर्ण रूप से ईश्वर को ही स्वामी समझता हूँ हम्म। व्यवहार में कुछ सोच हाँ जी आप बोलिए विचार करने पर आता नहीं अच्छा नहीं तो नहीं कभी कभी लगता शाब्दिक रूप में तो लगता है कि ईश्वर स्वामी है लेकिन व्यवहार में नहीं अच्छा आपने कभी परमाणु से कसौटी से कस के देखा हो या नहीं देखा हम्म? परमाणु से व्यक्ति किसी बात का निर्णय करता है आपने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में सत्या सत्य को जानने की पांच कसौटी पढ़ी सुनी या नहीं हुँ? हम्म? उनके आधार पर इसमें सत्य क्या है आप उसका परीक्षण नहीं करते इसमें परिश्रम नहीं करते तो आप क्या काम करते हैं फिर सत्य और असत्य को जानने की कसौटी प्रमाण आधार उनसे आप इस विषय में जानने का विशेष प्रयास जैसे नहीं करते तो आप कोई विशेष पुरुषार्थी या जिज्ञासु सत्य के गवेशक व्यक्ति नहीं हो सकते ये तो करना ही पड़ता है व्यक्ति को जब इस विषय में वो व्यक्ति परीक्षा पूर्वक निर्णय नहीं करता परमाणु से तो वो सत्य और असत्य को कैसे जान सकता है और असत्य का परित्याग सत्य का ग्रहण कैसे कर सकता है अर्थात नहीं कर सकता अब आपने सुना था दस मान्यता आपकी बहुत अच्छी है और एक मान्यता ये आपकी ठीक नहीं है अर्थात ईश्वर को स्वामी न मान के स्वयं को स्वामी आप मानते हैं तो आपकी नौ मान्यताएं आपको सफलता प्रदान नहीं कर सकेंगी लाभ होगा उनसे पर पूर्ण सफलता की स्थिति नहीं बन पाएगी ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं ये एक मान्यता यदि उल्टी हो जाए तो आपकी दूसरी मान्यताएं अल्प अंश में लाभ दे पाएंगे सर्वांश में वो सफलता प्रदान कर दे ये नहीं हो सकता ये ऐसी मान्यताएं हैं ऐसी आप यदि विषयों में सुख समझ के प्रवृत्त होते हैं उन्हें सुख मानते हैं और आपकी मान्यताएं पंद्रह बीस भी क्यों ना हो वो ठीक है तो आप सफलता की स्थिति में अच्छी ऊंची स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे एक ही मान्यता आपको नहीं जानी इसलिए परमाणु से बार बार परीक्षण करना और परीक्षण करके उसके ऊपर स्थिर रहने का प्रयत्न करना छूट जाए तो फिर करना जैसे जैसे वो छूटता है वैसे वैसे उसको फिर खड़ा कर लेते हैं फिर मंतव्य बना के चलते हैं फिर छूटता है तो फिर चलते हैं ये स्थिति गति प्रयास वर्षों तक चलता है तब व्यक्ति इसको स्थिर कर पाता है कि पूरे दिन भर ईश्वर को ही स्वामी मानना अपने को या किसी दूसरे व्यक्ति को संसार की वस्तुओं का स्वामी न मानना इसको जमा सकता है जम सकता है इस पर ठहर सकता है अन्यथा नहीं उदाहरण का रूप वही रहेगा बहुत सुनने पढ़ने पढ़ाने पर भी व्यक्ति इंद्रियों के पांच विषयों में सुख मानता रहता है उसको छोड़ नहीं पाता आप अनुभव करते या नहीं करते एक उसका मोटा रूप है बहुत आशक्ति है एक उसका फिर मध्य स्तर पर आ जाता फिर एक और सूक्ष्म है जिसमें बाहर से व्यक्ति प्रयास चेष्टा नहीं करता इंद्रियों के विषय भोगों की पर मानसिक स्तर पर वो चेष्टा होती रहती है इसका आप अनुभव करते या नहीं करते हम्म? मन से उसको छोड़ देना और छोड़ के उस पर जम के रहना ये अत्यंत परिश्रम साध्य है और इसी की सिद्धि के लिए व्यक्ति सब कुछ पढ़ता पढ़ाता और एक बार आप सिद्ध कर लो ये दिखने लग गया यहां तक पहुंच जाओ एक तो सिद्धांत रूप में जम जाना पर अनुभूति का विषय नहीं बनना एक तरह और एक अनुभूति का विषय बन गया कि विषयों में दुख है अनुभूति का विषय बन गया यदि आप उसको ज्यो का त्यो रखने के लिए सतत प्रयत्न नहीं करेंगे तो वो उल्टानुभूति का विषय है अर्थात इनमें सुख है ये फिर आपकी बुद्धि काम करने लगेगी समझ में नहीं आया हो तो बोलो हम्म ये प्रयोग व्यवहार में चलते रहते हैं अनुभूति का विषय स्थिर कैसे रखेंगे अच्छा अब तक पता नहीं चला <laughs> ये इन्होंने प्रश्न पूछा कैसे रखें देखो उत्तर देने में देर नहीं लगेगी अब आप सतत परिणाम दुख देखो ताप दुख देखो संस्कार दुख देखो और गुणवृत्ति विरोध सतत देखते रहो सतत देखते ही रहो एक क्षण भर भी उल्टाने हो तो अनुभूति का विषय जमा रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा आप सतत ईश्वर की उपासना में रहिए लगातार यदि ईश्वर की उपासना में रहेंगे तो ये अनुभूति का विषय बना रहेगा कि विषयों में दुख है यदि ऐसे छोड़ेंगे तो ये फिर सुख की अनुभूति होने लग जाएंगी ईश्वर की उपासना छोड़ते ही और आगे बढ़ो आप संसार को अनित्य देखते रहेंगे सतत तो अनुभूति का विषय जमा रहेगा यदि अनित्य नहीं देख पाएंगे तत्काल उखड़ जाएगा और बताऊ इतना ही बहुत है हाँ जी ऋषियों के मंतव्य मान्यता शत प्रतिशत सत्य है ये आपके दिमाग में बना रहे मेरा दिमाग जो काम करता है वो उनके विरुद्ध है वो झूठ है असत्य है ऋषियों ने जो लिखा वो शत प्रतिशत शत प्रतिशत सत्य है ऋषियों वाला उसमें एक अंश भी अशुद्ध नहीं है ये बनाए रखिए वो बना रहेगा यदि ये हट जाता है तो फिर अनुभूति वहां नहीं रहेगी उल्टी अनुभूति होगी वो कभी कभी हम भोजन खा लेते हैं सवा या डेढ़ा खाते हैं नहीं खाना चाहिए वो भी खा लेते हैं कालांतर में हम उसका परिणाम दुख भोगते हैं ये आप सभी देख चुके होंगे कभी न कभी <laughs> ये तो प्रयोग सामान्य प्रयोग है इसमें सब करते रहते हैं खाने या नहीं करते होता रहता ना तो हमने एक बुद्धिमान ने देखा एक इंद्रिय को हमने देखा उसको सवा डेढ़ा खा खा के देखा ये भी विचार बनाया कि आज खूब खा लो फिर आगे तृष्णा ना रहेगी ऐसा भी देखा भयंकर दुख हुआ और नींद नहीं आई पेट फूल गया करवट बदलते रहे फिर दस्त लग गए फिर कहता आज के पश्चात इतना अधिक भोजन नहीं खाऊंगा <laughs> ये सतत दिमाग में रहेगा तो वो स्थिर रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा एक इंद्रिय का जैसा है वैसा ही सब इंद्रियों का और आगे बढ़ जाइए संसार में अरबपति खरबपति संपत्तिशाली व्यक्ति बहुत हैं और वो सब कुछ संसार के जो साधन थे इकट्ठा कर चुके हैं आज और वो भोगों में उनकी छूट है इतना ही नहीं वैदिक रीति से एक सीमा में रह करके खाओ पियो भोग करो नहीं असीम वो जितना भी उल्टा सीधा भोग सकते हैं उनकी छूट है लाखों लोग ऐसे मिलेंगे आप पर उनको आज तक तृप्ति मिली हो किसी को वो ये समझ पाए हो कि अब मेरी तृप्ति हो गई है अब मेरी इच्छा पूरी हो गई है अब मैं शांत हो चुका हूँ मेरी बाधाएं दूर हो गई हैं ऐसा व्यक्ति न कभी हुआ न आज है न आगे होगा ये ऋषियों ने भी निर्णय दिया है उनका भी निर्णय आ जाएगा पृथ्वी के सारे साधन दे दो फिर भी कोई व्यक्ति अपनी तृष्णा को पूरी नहीं कर पाता या कर पाता उसने जब ये देखा तो वो उसकी ओर आकृष्ट नहीं होगा वो स्थिति बनी रहेगी जब नहीं देखेगा तो फिर रुचि हो जाएगी संस्कार कारण है ए इसको उभारने तमोगुण रजोगुण कारण है इसके उभारने असावधानी कारण है इसके उभारने में ईश्वर उपासना त्याग देना कारण है इसके उभारने में ये कारण बने रहते तो जब इनको व्यक्ति ऐसे रखेगा तो वो स्थिति बनी रहेगी इनमें से किसी में भी असावधानी बरतेगा तो वो अनुभव वाली स्थिति भी उल्टा अनुभव की स्थिति में आ जाएगी अब मोटा सा दृष्टांत और ले लो सुंदर रूप का ले लो सुंदर रूप में व्यक्ति बड़ा आकृष्ट हुआ बड़ी आसक्ति है उसको बहुत अच्छा लग रहा है उसमें सुख की अनुभूति करता यदि वो व्यक्ति इन्हीं धाराओं को उसके साथ जोड़ता है और देखता है कि इसमें ये दुख है ये दुख है ये दुख है और ये शरीर मलमूत्र का भरा है वो उसको दिखता रहेगा लगातार तब तो राग नहीं होगा नहीं तो राग होगा आप उसको रोक नहीं सकते एक बार ये अनुभव हो गया कि मलमूत्र का भरा इसकी ओर आकर्षित आकृष्ट होना अच्छा नहीं खराब है हानि आदि आदि वो उसको जच गया पर कालांतर में यदि वो ऐसे स्थिति नहीं बनाए रखेगा तो फिर वही राग ज्यो का त्यों उसमें रुचि उत्पन्न कर देगा और व्यक्ति ये सोचने लगेगा ये इतना पुरुषार्थ इतना परिश्रम हम वर्षों से कर रहे हैं किसी को दस पंद्रह बीस हो गए किसी को चालीस हो गए किसी को कुछ हो गया ये बड़ी भयंकर अवस्था है अब भी दूर नहीं हटा इसलिए पुरुषार्थ करूं या न करूं क्यों साधक जी ऐसा सोचेगा या नहीं है काल तक प्रयत्न करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो संशय कर बैठता है कि भाई ये तो पता नहीं है कि नहीं और फिर प्रवृत्त हो जाता है और आगे बढ़ेगा तो यहाँ तो पहुंच जाएगा ये लोग ना तो खाने पीने में संयम है ना इनका कुछ सोने उठने में संयम है ना कोई बोलने में संयम है ना छल कपट में कोई संयम है और बड़े मस्त रहते हैं खाते हैं सो जाते हैं फिर उठ के फिर खाते पीते यही अच्छे हैं हमसे तो है क्यों जी ठीक है या नहीं इनका क्या नाम है हाँ, ठीक है ऐसा सोचेगा या नहीं है हाँ एक व्यक्ति देखता है कि क्या ये दूर नहीं हो रहा है ये दुख अथवा अज्ञान बुरी प्रवृत्ति ये हमारा स्वाभाविक गुण है या कहीं से आया वो ये देखता है यदि वो इन ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ता सुनता समझता ऐसे उपदेश सुनता तो उसको समझ में आएगा ये जो राग है द्वेष है काम है क्रोध लोभ मोह ये हमारे व्यक्तिगत अपने गुण नहीं है तो प्रकृति से आए वो ये देखता जब आए हैं दूसरे से हमारे साथ जुड़े तो ये उखड़ कैसे नहीं सकते आया है उसको हटाया जा सकता स्वाभाविक जो होगा उसको हटाया नहीं जा सकता ये देखता है तो इस ओर चलता है तो फिर पुरुषार्थ करता है तो इसको हटाया जा सकता ये हमारा नहीं है व्यक्तिगत नहीं है अग्नि में जैसे उष्णता ये ऐसा नहीं है ये आया है हम मन से बुद्धि से इंद्रियों से काम करते रहते हैं और ये सत्व रजतम से बने हैं सारे वो गुण हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं सत्व रजतम इंद्रियों इंद्रिया जीन से बनी सत्व रजतम से जीवात्मा उनसे काम लेता है वो उसको प्रभावित करते हैं क्या समझ में आया गुणों के कारण से व्यापार चल रहा है जीवात्मा का अपना स्वरूप नहीं उदाहरण के रूप में मोटी बात है कि हम जब आंख से देखते हैं पीलिया रोग होने पर सफेद चद्दर जो उसको पीली दिखती है यद्यपि हमारे बस की बात नहीं हम इसको पीला नहीं देखे ये हमारा उपकरण जो है ऐसा ही दिखा रहा है तो ऐसा देखते हैं हम ऐसा देखते ये पीला देखना उसका ये हमारा गुण नहीं है जीवात्मा एक तो ईश्वर से संबद्ध रहता है दूसरी स्थिति में इनसे संबद्ध रहता है मन इंद्री बुद्धि शरीर नशनाड़ियां इनसे संबद्ध रहता है एक जीवात्मा ईश्वर से संबद्ध रहता है इनसे काम लेता है फिर ईश्वर की उपासना में सतत अपने आप को रखता है जब ईश्वर की उपासना अपने आप को सतत रखता है तब इनके प्रभाव को रोक देता है बुद्धि मन इंद्रिया शरीर के प्रभाव को रोक देता और जब ईश्वर की उपासना नहीं करता तो कुछ तो रोकेगा ही जितना परिश्रम कर, करता है मात्रा पर पूर्ण रूपे नहीं रोक सकता जब वो निरुद्ध अवस्था में रहेगा सतत तब तो इनके प्रभाव को रोके रखेगा और फिर एकाग्रता जो स्थिति है संप्रज्ञात वाली उसमें रहेगा तब तक भी पूरा पर्याप्त मात्रा में रोकता है समर्थ रहता है इसके जब विक्षित में आता है तो तब रोकना इंद्रियों के प्रभाव को हटा देना इसके बस की बात नहीं क्या समझ में आ रहा है बोलो निरुद्ध अवस्था में पूर्ण रूपेण रोक देता है एकाग्र अवस्था में पर्याप्त मात्रा में रोकता है लेकिन विक्षिप्त अवस्था में आते ही उसके बस के बाहर की बात हो जाती है अब आप इन पांचों अवस्थाओं का अनुभव करेंगे तब आपको पता चलेगा अब मैं कौन सी अवस्था में हूं यदि मैं इस अवस्था में हूं तो रोक नहीं पाऊंगा या आधा रोक पाऊंगा इसमें हूं तो इतना रोक पाऊंगा अब उसको देखना पड़ता है क्षिप्त अवस्था है तो ये स्थिति क्षिप्त अवस्था में इतनी तीव्रता होती है कि वो व्यक्ति एक विषय को रोके दूसरा तीसरे वो रोकता जाएगा नहीं उठते जाएंगे रोकता जाएगा नहीं उठते जाएंगे रोकता जाएगा मक्खियों की तरह उठेंगे माल मक्खी मधुमक्खी और रोकता जाए और वो उठते रहेंगे और एक को हटाता है दूसरा आगे प्रभावित कर देता है उसको हटाता है तीसरा प्रभावित कर देता है लगातार उसको प्रभावित करते थे जीवात्मा आप ये बताओ आप में से इन पांचों अवस्थाओं का कौन कौन अनुभव करते हो बोलो अनुभव अनुभव कौन कौन करते अपना बताओ सर रणबीर जी पांचों का तो नहीं कर पाते जी प्रथम तीन का करते हैं अच्छा हाँ जी आप बोलो विक्षिप्त का अधिकांश करते हैं और कभी कभी एकाग्रता भी अनुभव हाँ जी बोलो एकाग्रता कभी कभी दो तीन महीने में एक बार हाँ जी बोलो तीनों अवस्था रहती है अच्छा अच्छा ये कर ले तो ये क्षिप्त है तो इसको हटा देना चाहिए नहीं तो मुझे ले जाएगी कहीं का कहीं ऐसा देखते हो कभी हाँ, यदि मैं नहीं रोकूंगा तो पता नहीं कहाँ घसीट के ले जाएगी और कहेंगे मेरी माता जी याद आ रही है स्वामी जी मैं जा रहा हूँ वहां जाके खड़ा कर देगी संघर्ष होता रहता है, है? संघर्ष होता रहता है अच्छा हाँ जी बोलो कैसे बैठे हो प्रारंभिक तीन अवस्था पर अच्छा अब बोलो अपना अधिकतर विक्षिप्त अवस्था अच्छा स्वामी जी स्थिति न बदलने पर बेचैनी बहुत अनुभव होती है हुँ? हम्म? स्थिति न बदल पाने पर या समर्थ न होने पर बेचैनी बहुत अनुभव होती है आ, हाँ, तो वो तो होगी आप चाहेंगे मैं इसे छूटू और वो आपके ऊपर <laughs> आरूढ़ हो जाएगी वो उसको अशांति की अनुभूति होगी विषय की रुचि हुई उसने रोकना चाहा फिर फिर वही फिर विक्षेप आ गया फिर रोका फिर आ गया उसको संघर्ष करना पड़ रहा है बड़ी अशांति हो रही है और वे कहता चलो इसको खा पी लो क्यों खाम खा झगड़े में पड़े वो छोड़ देगा उसको <laughs> ऐसा भी होता है या नहीं होता अब आपको खा लिया कुछ और पेट में आवश्यकता भी नहीं है वैसे रसना की दृष्टि से तो रुचि है शरीर के दृष्टि से कहता कि शरीर को तो आवश्यकता नहीं है पर खीर रखी तो है और मेरी है वो तो अपनी रखी हुई खीर दूसरे की तो है नहीं कोई चोरी की बात नहीं और भाई हमको आज्ञा मिल गई थी कि भाई बीच में किसी को भूख लगे तो खा लेना फिर कहता था शरीर में तो आवश्यकता नहीं दिख रही क्योंकि शरीर की तो पाचन शक्ति इतनी है पर वो फिर कहता है कि क्या क्या इसमें हानि क्या है वो ये कहता है खाने में हानि क्या है कहता कि पाचन शक्ति नहीं नहीं आज इतना खाया भी नहीं था जन्म में कम खाया था और जन्म से <laughs> ये ढूंढेगा कुछ नहीं कुछ वो खोज करता रहेगा फिर कहेगा नहीं नहीं ठीक नहीं है फिर इच्छा हुई <laughs> फिर रोक दिया फिर इच्छा हुई फिर रोक दिया वो कहेगा ये रात भर नींद ही नहीं आने देगा खा ही क्यों नहीं देते वो खा देता तो- <laughs> वो खा लिया उसने आपने सुना ना कई लोग ऐसे भी प्रयोग करते हैं उनका नाम क्या है काली माई को मान्या करते थे ना जो उन्हीं की कथा है या दूसरे की है मुझे याद नहीं है पक्की हाँ उनकी है दूसरे की है ऐसा कहते हैं जानबूझ करके नींबू ले आए ये ले आए और खाने के लिए जैसे रख दिया और फिर देख रहे हैं कि नींबू है चटपटा है फिर कहते नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा <laughs> रख दिया जानबूझ के कि देखो मेरी इच्छा होती है कैसे कहता हूँ कहता नहीं खाऊंगा नहीं खाना है नहीं खाना और जानबूझ के इसलिए रखा कि देखो मैं इसको रोक सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ या नहीं ऐसे भी लोग प्रयोग करते हैं ना अब वो संघर्ष करेगा तो वो खीर की जो इच्छा है खाने की उसने कहता देखो आज मैं ये खीर की इच्छा को रोकूंगा कैसे उठेगी ये पूरा जोर लगाया उसने नहीं मन जड़ पदार्थ है ये तो सब जगह नचाता रहेगा ये तो मुझे आज यहाँ नचा रहे आज कल और नचाएगा ये इसके अधीन हो गए तो मैं भयंकर गड्ढे में गिरूंगा नहीं उसने खूब जोर लगाया और नहीं खाया उसको नहीं खाना आप ऐसे अवसर पे क्या करोगे है क्या करोगे देखो दो स्थिति भिन्न भिन्न है आपको कभी सुनने को मिला हो एक स्थिति है ऐसी स्थिति में जो ये सुनाई जा रही वो व्यक्ति उस से मन को हटाता है तो फिर इच्छा हो जाती है फिर हटाता है फिर इच्छा हो जाती है फिर हटाता है संघर्ष चल रहा है सभी एक विषय है तो जीवा वाला ऐसे औरों में भी तो उसमें वो व्यक्ति क्या देखता करता है कि एक तो ये है कि वो इच्छा बार बार उभर रही है उसका सेवन करो एक स्थिति खा लो खीर को एक स्थिति और एक स्थिति और है वो स्थिति क्या है उसके दिमाग में अभी पूरा ये विज्ञान नहीं है मन जड़ पदार्थ है हल्का फुल्का कुछ है थोड़ा वो कहता है ये मन जाता है मन मानता नहीं है मैं इस मन के पीछे बिल्कुल नहीं जाऊंगा नहीं जाना नहीं जाना मन के पीछे और ये संघर्ष करने लगा मन के पीछे नहीं जाना नहीं जाऊंगा बिल्कुल इसको जाने दो इसको जाने दो मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ इसको जाने दो और उसने दो चार बार ऐसे किया अच्छा जब जीवात्मा ने संघर्ष किया तो मन में इच्छा कमजोर पड़ गई <laughs> क्या समझ में आया नहीं आया समझ में जीवात्मा ने संघर्ष किया बहुत उत्साह तो मन में जो इच्छा उभारता था वही तो था वही विरोध में लग गया नहीं जाऊंगा जाने दो इसको नहीं जाऊंगा जाने दो इसको इसमें लगा तो वो ढीला पड़ गया मन हो गया तो थोड़ी देर में शांति हुई रुक गया क्या समझे आप क्या क्या सोच रहे हो तो इसी के बारे में सोच तो क्या समझ में आया आप ऐसा करते हो कभी है कौन कौन करते जाने दो इसके मैं नहीं जाऊंगा नहीं माननी मन की बात ऐसा संघर्ष करते हैं रस विषय में तो आसक्ति नहीं होती परंतु राग द्वेष अभी द्वेष की है अभी समाप्त नहीं हो पा रही वो द्वेष की इसलिए नहीं हो रही राग की नहीं हो रही है उसका हेतु राग है ये नियम है ये राग होगा तो द्वेष होगा राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं होगा ये कभी देखेंगे हाँ अब देखो और कई बार ये क्या करता है बार बार उसने रोका ईश्वर की ओर जाना चाह रहा है ईश्वर की स्तुति करता है प्रार्थना करता है नहीं और वो मन नहीं मानता है क्या मतलब मन को प्रेरणा देता है वैसे उर्जन क्या है अहमदाबाद की ओर चले आजीवन विकास से चले आए चलो अहमदाबाद फिर कहता नहीं जाना फिर फिर कहता चलो अहमदाबाद फिर कहता नहीं जाना चलो अहमदाबाद नहीं जाना बात इतनी है अहमदाबाद की ओर कदम रख रहा है और कहता नहीं जाना फिर स्वयं कदम रख देता जाओ नहीं जाना है अब बताओ ये ये कितना मूर्ख व्यक्ति है नहीं आया समझ में हम्म जीवात्मा की स्थिति है स्वयं चलाता है उसको बुराई की ओर और, और कहता है कि ये नहीं मानता फिर कहता नहीं जाऊंगा फिर चला दिया कहता नहीं जाऊंगा तू स्वयं तो चलता है स्वयं कहता नहीं जाऊंगा और कभी कभी ये क्या करता है इस संघर्ष में मन बुराई की ओर जाता दिखाई देता है और ये रोकता है और फिर कहता है हे ईश्वर देखो कितना दुष्ट है ये मन ये मानता ही नहीं इससे बचाओ मुझे और ईश्वर तो भोला वाला ईश्वर तो है नहीं उन जैसा भोले से बाबा को चाहे जो ले जी <laughs> उन जैसा ईश्वर तो वैदिक ईश्वर तो है नहीं ये कहता परमात्मा ये देखो कितना दुष्ट है बचाओ मुझे ये मेरे पीछे पड़ रहा है परमात्मा जानता नहीं ये मूर्ख व्यक्ति स्वयं चलाता है शिकायत मेरे सामने करता है है या नहीं सोचेगा ईश्वर है चलाता स्वयं है और कहता ये मन नहीं मानता बड़ा दुष्ट है परमात्मा बचाओ ये भी एक स्तर है इतना परिजान नहीं है व्यक्ति को निश्चित रूपेण ये उसको जड़ मान के प्रयोग कर रहा हो तब वो इस स्थिति को सोच लेता है नहीं जाऊंगा इसके पीछे नहीं जाना इसके पीछे ये दुष्ट है खराब है कल्पना कर वो जोर लगाएगा तो कम से कम वहां बच जाएगा क्यों चलाने वाला वो है वो विरोध करता है एक गंभीर स्थिति है जीव आत्मा अपने दोष को समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास नहीं करता इसलिए वो दोष दूर नहीं हटता क्या समझ में आया जीवात्मा जीवात्मा अपने दोष का पूरा विरोध नहीं करता उसमें इच्छा बनी रहती है पूरा उखाड़ने में वो बल नहीं लगाता उससे संधि समझौता कर लेता जब पूर्ण रूपेण उसका विरोध नहीं करता दोष का तो वो दोष हट नहीं पाता अब विराम अभी आपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के व्याख्यान को वेद मंत्र की व्याख्या को सुनने का प्रयत्न किया यदि थोड़ी सी संस्कृत भाषा आती हो तो वेद मंत्रों का अर्थ समझने में सरलता हो जाती है हाँ जी देशराज जी क्या समझे इससे पता चले आपको नींद आने को तैयार नहीं थी बात ध्यान देने की आपने कभी सुना हो पढ़ा हो महर्षि दयानंद सरस्वती से पूर्व इसी भारत देश में उत्पन्न पौराणिक प्रक्रिया के व्यक्ति विद्वान शायणाचार्य आदि उन्होंने वेदों पर भाष्य किया जैसे उनको भाषा तो आती थी पूरी तो हम नहीं कहेंगे अच्छी आती थी पर सिद्धांतों का ज्ञान नहीं था कुछ आया समझ में भाषा विज्ञान के साथ में योग का विज्ञान होना आवश्यक रहता है भाषा विज्ञान के साथ साथ दर्शनों का विशुद्ध विज्ञान होना आवश्यक होता है परिणाम उन विद्वानों ने जो भाष्य किया वेद का सायण आदि ने उसका अनुकरण करके विदेशियों ने भाष्य कर दिया और विदेशियों में इतना भाषा का विज्ञान नहीं था उन जितना भी नहीं था परिणाम ये निकला विदेशियों ने गलत भाष्य का अनुकरण किया एक भाषा विज्ञान की कमजोरी दो इसलिए वो उल्टा हो गया क्या समझ में आया दो निर्बलताएं अनुचित भाष्य जिन्होंने किया उनकी उन्होंने नकल की उसका सहारा लिया आधार बनाया और भाषा विज्ञान आप अपना नहीं था बहुत कमजोर था इसलिए वह अशुद्ध बन गया इस ओर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भाषा विज्ञान बहुत गंभीर है एक और वो योग में बड़ी गति प्रगति विकास उन्होंने कर लिया था और आगे बढ़ जाइए जो ऋषियों की परंपरा थी निरुक्त व्याकरण दर्शन उपनिषद इनके ऊपर अधिकार था महर्षि का जहां जहां पर वेदों के मंत्रों की व्याख्या मंत्रों के करने का ढंग मंत्रों के व्याख्या के नियम क्या है वो महर्षि के साथ साथ रहते हैं इसलिए परिणाम आज निकला है सब तो ऐसा नहीं मानते होंगे परंतु अच्छे बुद्धिमान पक्षपात रहित विदेशी व्यक्ति भी ये मानते हैं महर्षि दान का भाष्य जैसा है ऐसा इनमें किसी का नहीं है अब हम चले थे थोड़ा थोड़ा भाषा विज्ञान ये हमारे राम प्रकाश जी बैठे राम प्रकाश मुनि क्या नाम है राम मुनि जी मैंने कहा अब पत्र ले लिया एक तो भाषा पढ़ो फिर ऋषियों के ग्रंथ पढ़ो सत्यार्थ प्रकाश आदि फिर दर्शन पढ़ो और योग में समय लगा करो इसलिए पांच पश्चात तो संन्यास की तैयारी के लिए लिया है और ये उससे डरते हैं घबराते हैं मैं भूल जाता हूं ये बहाने टाल मटोल नहीं करो अब चलो मंत्र का संकेत विष्णु शब्द उकारांत है क्या समझे आप ऊ है जिसके अंत में उकार अंत उकारांत है क्या बन गया उसका नाम और कै है जिसके अंत में क्या बनेगा ककारा अंत है और है जिसके अंत में भय विष्णु छुटा हुआ है और विष्णु विष्णु है और जब हम इसका षष्टी भी भक्ति में बनाएंगे विष्णु क्या बनेगा का के की और गुजरात न ने नी क्या बनेगा नहीं समझ में आया हूं गुजराती ઓછી જાણું છું તો વિષ્ણુ विष्णु के का के की कर्म सीधी बात बहुवचन बन जाएगा कर्म कर्मणी कर्माणी क्या बनेगा कर्म कर्मणी कर्माणी बहुवचन बन गया सीधी सी बात विष्णु कर्माणी पश्यत है बताओ क्या बनेगा लोटलकार विष्णु के कर्मों को देखो माताओं की नींद तो नहीं आ रही है पढ़ना लिखना छोड़ रखा है और यहाँ पढ़वाते हैं दिन भर याद करवाते हैं वो थक जाते हैं हो सकता है सोचते हैं इस बार तो आगे आगे इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे <laughs> तो कितनी पंक्ति आ गई आपके सामने विष्णु हो कर्माणी हे जीवात्मा हो विष्णु के विष्णु सर्व व्यापक ईश्वर के कर्माणी पश्चात उसके कर्मों को देखो हम क्या सिखाते हैं ईश्वर के पांच कार्य कौन कौन से ईश्वर का पहला कार्य पिछले भी बोल लो ईश्वर सृष्टि की रचना करता है आप बोलती क्यों नहीं उसे आवाज नहीं आ रही ईश्वर का दूसरा कार्य ईश्वर सृष्टि का पालन करता है ईश्वर का तीसरा कार्य ईश्वर सृष्टि का विनाश करता है ईश्वर का चौथा कार्य ईश्वर अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है ईश्वर का पांचवा कार्य ईश्वर वेदों का ज्ञान देता है तो विष्णु कर्माणी पश्यत क्या देखोगे पांच काम इतने तो देख लोगे क्यों जी रणवीर जी कैसे आप सुना सकते हैं ईश्वर के पांच कार्य सुनाओ खड़े हो जाओ ऐसे बोलो पूज्य स्वामी जी उपस्थित सज्जनों पूजा माताओं मैं आपके सामने ईश्वर के पांच कार्य सुनाना चाहता हूं अब बोलो हाँ बोलो घर में गए थे आपने भोजन करवाया था उस दिन से तो करे करवाए नहीं थे क्या बैठो अपने रणवीर जी हैं रोहतक कार्यक्रम देशराज जी हैं पुराने कर्मठ कार्यकर्ता इन्होंने आयोजन किया देशराज जी ने खूब दौड़ धूप की और रणवीर जैसे ने कार्यक्रम बनाया बड़ा प्रभावशाली चलो विष्णु कर्माणी पश्यत हे संसार के लोगो आप इस व्यापक परमात्मा के कर्मों को देखो और जो व्यक्ति ईश्वर के कार्यों कर्मों को देखता है उसका दिमाग बुद्धि बदल जाता वो ये नहीं मानता कि सृष्टि स्वतः बन गई अपने आप बन गई ऐसी विचित्र रचना हमारे हाथ पैर आंख नाक की रचना इसकी कल्पना भौतिक वैज्ञानिक नहीं कर सकता कि त्वचा इंद्री कैसे बन गई ग्रहण इंद्रिय कैसे बन गई है किन परमाणुओं से बनी है भौतिक वैज्ञानिक नहीं जानता और बिना विज्ञान के ये चीजें नहीं बन सकती ये उंगली देखो ये बड़ी क्यों है मेघराज जी ये बड़ी क्यों है नहीं पता तो कहो स्वामी जी पता नहीं सीधी बात करो <laughs> ये क्यों नहीं कहते स्वामी जी मुझे पता नहीं है सीधी भाषा बोलो इधर उधर टाल मटोलने की भाषा बोलने वाले का सुधार नहीं होता विष्णु कर्माणी पश्चात जब व्यक्ति विचार पूर्व सारी रचना को देखता है ये परिणाम माँ नहीं बना सकती पिताजी नहीं बना सकते गुरु जी नहीं बना सकते मैं भी नहीं बना सकता मैं मैं मैं करता रहता हूँ बकरी के बच्चे की तरह मैं मैं मेरा मेरा मैं मैं मेरा मेरा ये बेकार की बातें सारी उखाड़ के फेंक देता है फिर उसको ईश्वर अपना लेता ये परिणाम निकलता है विष्णु कर्माणी पश्चात